कृपा सिन्धु लखी लोग दुखारे निज सुर पति छल भारे सभाराओ गुरु मन्त्रे भरत भगति सब कैमति जन्त्री राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीत नते विनय बड़ाए सुनत सुखद बर नट कठिनाई कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने किल दिया सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है पर उसके वर्णन करने में कठिनता है जासु बिलो के भगति सु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु महिमातासु कह मितुल से भगति सुभा सुमति ही आप छोटे मही माँ बड़ी जाने कभी कुल कायने मान सकुचानी कही न सकते गुण रुचि अधिकाये मति गति बार बचन के नाई जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है विकसित हो रही है परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई वह कुंठित हो गई भरत बिमल जसु बिमल विधो सुमति चकोर कुमार उदित बिमल जन हृदय भ एकटक रही निहार भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है तब उसका वर्णन कौन करे भरत सुभावन सुगम निगम लघुमति चप भरत सुभा सुगम निगम हो लघुमति चापल ताक बिछम हो कहत सुनत सते भावु भरत को पद होई नरत को सुमिरत भर तही प्रेम राम को जहिन सुलभ तेहि सरिस बाम को देख दयाल दशा सब के राम सुजान जान जन जी के भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है अतः मेरी तुक्ष बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ उसके समान वाम अभागा और कौन होगा दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म मधुरिन धीर नयनागर सत्य सने शील सुख सागर देशुकारुलखे सम समाज नीति प्रीति पार लकर रघुराजू भोले बचन सर बसु से हित परिणाम सुनत ससुरसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीण धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह और शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे उन्होंने कहा हे तात भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो करम बचन मान बिमल तुम समान तुम तात गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कही जात हे तात कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं